प्रेम से ऊपर मैत्री सदगुरु ओशो के अमृत वचन ट्रैक दो शरीर के प्रति मित्रता नहीं रामवीण ठाम के तेरहवें प्रवचन से संकलित भगवान श्री जब तक शरीर से तादात्म होता है तब तक तो हम शरीर की कोई फिक्र नहीं करते उसे अपना अहंकार तुष्ट करने का साधन ही बनाते हैं लेकिन यह तादात्म जैसे जैसे कम होता जाता है वैसे वैसे शरीर के प्रति एक नई पहचान एक नए मैत्री भाव का उदय होता है ऐसा विरोधाभास क्यों है कृपा कर हमें समझाएं जैसे जैसे कोई व्यक्ति शांत होगा वैसे वैसे शत्रुता का भाव गिरने लगता है यह सवाल नहीं है किसके प्रति शत्रुता का भाव भीतर से गिरना शुरू हो जाता है आनंदित व्यक्ति केवल मैत्री का ही भाव कर सकता है जैसे तुम्हारा ध्यान गहरा होगा वैसे ही तुम्हें लगेगा सबसे तुम्हारी मैत्री हो गई जो अपने थे वो अपने रहे जो पराए थे वो भी अपने हो गए शरीर अज्ञानी कितना ही तादात्म रखता हो उसे पराया मानता है और अज्ञानी कितना ही शरीर में जीता हो शरीर की शत्रुता से जीता है तुम भला कितना ही शरीर को सजाते हो लेकिन भीतर तुम्हारे शत्रु शरीर के साथ एक दुश्मनी बनी है वो तुम्हें पहचान में ना आते हो लेकिन तुम शरीर के शत्रु हो और शत्रुता दो तरह से पूरी की जा सकती है एक तो शत्रुता पूरा करने का उपाय है कि तुम शरीर को भोग का एक माध्यम बना लो तब तुम शरीर को नष्ट ही करोगे और शरीर में अनेक तरह के दुख और व्याधियों का जन्म होगा तो शरीर के साथ दुश्मनी बजाने का एक रास्ता भोगी का है वो भी सड़ता है एक दूसरा रास्ता त्यागी का है वो भोग के शरीर को नहीं सड़ाता वो शरीर को सताता है कांटों पर सुलाता है भूखा रखता है कोड़े मारता है वो शरीर को सीधा सताता है भोगी परोक्ष रास्ते से सताता है लेकिन दोनों शरीर को सताते हैं दोनों दुश्मन मित्र उनमें से कोई भी नहीं बुद्ध का एक सन्यासी हुआ श्रोण वो राजकुमार था उसने घर छोड़ दिया महल त्याग कर दिया परम भोगी था उसने अपने महल में सारे भोग के आयोजन कर रखे थे कभी जमीन पर पैदल नहीं चला था सीढ़ियां भी अपनी महल की चढ़ता था तो नग्न स्त्रियां उसने किनारे पर खड़ी कर रखी जिनके कंधे पर हाथ रख के वो ऊपर जाता था साज संगीत नाच नृत्य बस यही जीवन था दिन भर सोता रात भर शराब पीता नाच गान में व्यतीत करता अचानक बुद्ध गांव में आए और श्रोण सन्यासी हो गए बुद्ध के साथी संगी चकित हुए और उन्होंने पूछा कि हम सोच भी नहीं सकते कल्पना में कि श्रोण कभी सन्यासी होगा ये तो आपने चमत्कार कर दिया बुद्ध ने कहा इसमें मेरा चमत्कार जरा भी नहीं श्रोण को सन्यासी होना ही पड़ेगा क्योंकि मन एक अति से दूसरी अति पर चला जाता और अब तुम देखना इस श्रोण का व्यवहार तुम कुछ भी नहीं हो और लोगों ने जल्दी ही देखा कि श्रोण तपश्चर्या में सबसे आगे भिक्षु दिन में एक बार भोजन करते थे बुद्ध के तो श्रोण दो दिन में एक बार भोजन करता भिक्षु रास्ते से चलते तो श्रोण जंगल कटीले मार्गों से चलता भिक्षु एक चीवर रखते थे अपने पास श्रोण नंगा रहता भिक्षु दोपहर में छाया में विश्राम करते श्रोण धूप में खड़ा रहता बुद्ध ने कहा देखो पहले भी सता रहा था शरीर को और अब भी सता रहा पहले सता रहा था भोग की तरह अब सता रहा है योग की तरह लेकिन सताना जारी दुश्मनी कायम छह महीने में श्रोण की सुंदर काया सूख गई काला पड़ गया पैर में घाव और छाले आ गए आंखें अंदर धस गई कोई पहचान भी नहीं सकता था कि यह वही राजकुमार श्रोण बुद्ध एक रात उसके झोपड़े पर गए और उससे कहा कि मैंने सुना है श्रोण कि जब तू राजकुमार था तो तू वीणा बजाने में कुशल था एक बात पूछने आया हूं अगर वीणा के तार बहुत कसे हों तो संगीत पैदा होगा कि नहीं सुनने का होगा लेकिन कर्कश होगा और अगर बहुत ही ज्यादा कसे हों तो तार टूट जाएंगे संगीत पैदा नहीं होगा और बुधने का तार अगर बिल्कुल ढीले हों तो तो श्रोणने का तब भी संगीत पैदा नहीं होगा या पैदा होगा तो मरा मरा पैदा होगा उसमें कोई प्राण ना होंगे उसमें कोई गति ना होगी एक अगर तार बहुत ढीले हुए तो पैदा ही नहीं होगा तो बुद्ध ने कहा कि फिर संगीत पैदा होने का नियम क्या है सुनने का तार मध्य में हो न तो बहुत कसे न बहुत ढीले तारों की एक ऐसी भी दशा है जब तो ना आप कह सकते हैं कि वो कसे हैं और न कह सकते हैं ढीले वही मध्य बिंदु खोजना संगीतज्ञ की कुशलता है वीणा तो कई लोग बजा लेते हैं लेकिन मध्य बिंदु खोजना बड़े संगीतज्ञ की कुशलता है तो जब संगीतज्ञ अपनी वीणा पर काम शुरू करता है तो घंटों तो उसे संवारने में लग जाते बिठाने में ठोंकता है पीटता है बिठाता है वो मध्य में ला रहा है तारों को उस जगह ला रहा है जहां श्रोण्य का न तो कसे न ढीले तब संगीत का जन्म होता है बुद्ध उठ खड़े हुए और बुद्ध ने का श्रोण यही कहने आया था कि जो संगीत का नियम है वही जीवन का नियम भी जीवन में भी तभी समाधि का संगीत पैदा होगा जब ठीक मध्य में तार होंगे अतियों से बच भोग से त्याग पर चला जाना आसान है भोग और त्याग के मध्य में रुक जा वही संतुलन है तो जैसे जैसे ध्यान बढ़ेगा मन मध्य में आना शुरू होगा सब शत्रुताएं गिरेंगी दोनों तरफ की शत्रुताएं गिरेंगी और एक मैत्री भाव पैदा हो और ये मैत्री भाव किसी के प्रति नहीं है ये तुम्हारे भीतर अविर्भूत होगा इसलिए जहां भी तुम देखोगे मैत्री मालूम पड़ेगी वृक्षों को देखोगे पक्षियों को देखोगे मित्रों को देखोगे सब तरफ एक मैत्री दिखाई पड़ेगी जैसे सब तुम्हारे साथी है जैसे तुम्हारे विरोध में कोई भी नहीं है भी नहीं तुम थे विरोध में तो सब तुम्हारे विरोध में थे अगर कोई तुम्हारा विरोध भी करेगा तो तुम्हारे ध्यान के कारण तुम देख पाओगे कि यह विरोध भी तुम्हारे सहयोग के लिए तो कबीर कहते निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबा है वो जो तुम्हारी निंदा करता हो उसको बुला के अपने बगल में ही ठहरा लो आंगन बना के कुटी छबा के उसको वहीं अतिथि बना लो क्योंकि उसकी निंदा से तुम्हें सहारा मिलेगा अब वो निंदक में भी मित्रता दिखाई पड़ती इस शरीर में भी तुम्हें मैत्री दिखाई पड़ेगी और तब तुम शरीर के प्रति भी धन्यवाद कर पाओगे और वही है सन्यासी जो अपने शरीर को भी धन्यवाद दे सके क्योंकि शरीर ने तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ा नहीं सिवाय सांस देने के तुम अगर वैश्या के घर जाना चाहते थे तो वहां ले गया तुम जाना चाहते थे लेकिन हम बड़े अद्भुत लोग हैं हम कहते हैं शरीर शत्रु है ये वैश्या के घर ले गए तुम मंदिर जाने लगे तो शरीर मंदिर ले गया शरीर ने सदा छाया की तरह तुम्हारा पीछा किया तुमने जो चाहा शरीर ने पूरा किया फिर भी तुम गाली उसे देते हो अगर तुम पाप करते हो तो कहते हो शरीर पाप करवा रहा है अगर तुम क्रोध करते हो तो कहते हो शरीर क्रोध करवा रहा है अगर काम वासना तुम्हें झकझोरती तो तुम कहते हो ये शरीर काम वासना में ले जा रहा है दूसरे को दोष देने की हमारी आदत इतनी पुरानी है कि जब कहीं कुछ और उपाय नहीं मिलता दोष देने का तो हम शरीर पर ही ठोप देते इसलिए जो सन्यासी साधु शरीर की निंदा कर रहा हो समझना उसे भी सन्यास की सुगंध नहीं मिली नहीं तो शरीर तो मंदिर है और शरीर तो एक अनूठी अनुकंपा है प्रकृति की इतना कुछ शरीर में तुम्हें दिया है प्रकृति ने काश तुम उसका उपयोग कर सको वहां कोई काम वासना ही नहीं छिपी है वहां काम वासना से ऊपर के चक्र जिन जिनमें और आयाम छिपे तुम्हारे शरीर में वो परम सहस्त्रार भी है जहां से द्वार समाधि का खुलेगा तुम्हारा निम्नतम चक्र संभोग का है जहां से द्वार प्रकृति का खुलता है तुम्हारा सातवां चक्र ध्यान का है जहां से द्वार परमात्मा का खुलता शरीर में सब छिपा है इसलिए शरीर को दोष मत देना तुम जिस द्वार को खटखटाते हो शरीर उसी द्वार को खोल देता है लेकिन हमारी आते कि दोष कभी हम अपने को नहीं देना चाहते कोई ना कोई चाहिए जो दोषी है जब कोई भी नहीं मिलता तो निरीह शरीर तुम्हें मिल जाता और तथाकथित धर्मों ने बहुत दुष्टता सिखाई और शरीर का तुम्हें दुश्मन बनाया है और तुम्हें यह ख्याल दिया है कि शरीर को सताओ तो ही तुम आत्मवान हो सकोगे इससे ज्यादा मूढ़ता की और कोई बात नहीं हो सकती आत्मवान पुरुष तो किसी को भी नहीं सताएगा शरीर को सताने का सवाल ही नहीं और सताने वाला कैसे आत्मवान बनेगा सताना तो हिंसा है दुष्टता है कठोरता है और सताना तो रुग्ण चित्त का स्वभाव है सताओ मत इस शरीर को पहचानो इसलिए जैसे तुम्हारा ध्यान आएगा वैसे ही शरीर की नई प्रतिभिज्ञा नई पहचान होगी तुम पहली दफा देखोगे कि शरीर तो अनूठा है बड़ा रहस्यपूर्ण है इसके कितने द्वार हैं इसमें कितने अनूठे रहस्य का जगत छिपा है तुमने खोजा ही नहीं खजाना तुमने जो खोजा वो तुम्हें मिल गया है तुम उस पागल की तरह हो जिसे महल किसी ने भेंट किया हो और वो बाहर सीढ़ियों पर बैठा जीवन गुजार रहा है और गाली दे रहा है कि धूप आती है वर्षा आती है और किस तरह का मकान है ये कि बस यहां बैठे रहो सीढ़ियों पर कष्ट पाओ सड़क से निकलती धूल उड़ती है लोग गाली देते हुए जाते और वो दरवाजे पे सीढ़ियों पर बैठा है उसने दरवाजा भी नहीं खोला उसने भीतर के कक्ष नहीं देखे उसने महल का विश्राम नहीं जाना उसने महल के खजाने नहीं खोजे बस वो दरवाजे पर बैठा गालियां दे रहा है वो पीठ किए हैं महल की तरफ और जितनी गालियां देगा उतना ही मुंह करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जिसको हम गाली देते हैं उसकी तरफ हमारी पीठ मजबूत हो जाती तुम्हारा दुश्मन आ जाए तो तुम उसको देख नहीं सकते तुम आंख बचा लोगे तुम पीठ करके बैठ जाओ दुश्मन की तरफ पीठ के सिवाय और कुछ होगा भी नहीं शरीर दुश्मन है तो तुम पीठ किए महल की तरफ बैठे रहोगे माना इसी शरीर से लोग नरक जाते हैं मगर इसी शरीर से लोग स्वर्ग भी जाते हैं एक ही सीढ़ी को तुम नरक की तरफ लगा सकते हो उसी सीढ़ी को स्वर्ग की तरफ लगा सकते हो सीढ़ी कुछ भी नहीं कहती कि नीचे की तरफ जाओ कि ऊपर की तरफ जाओ वो जाने वाले पर निर्भर ध्यान की थोड़ी सी भी झलक आनी शुरू हो तो तुम्हें बड़ा मैत्री भाव शरीर के प्रति पैदा होगा क्योंकि तुम पाओगे कि यह ध्यान भी शरीर के कारण ही संभव हो पा रहा है और जिस दिन समाधि घटेगी उस दिन भी तुम पाओगे कि समाधि भी शरीर के कारण ही संभव हो पाई मुक्त व्यक्ति मरते क्षण में शरीर के प्रति बड़े अनुग्रह और धन्यवाद के भाव से मरता है संत फ्रांसिस की मृत्यु हुई तो आखिरी क्षण में उसने आंख खोली और कहा बहुत बहुत धन्यवाद तूने मेरा बड़ा साथ दिया कोई मेरा इस तरह साथ ना देता तू सदा मेरा साथ ही रहा चाहे मैं नरकों में गया और चाहे मैं स्वर्गों में चाहे मैंने अच्छा किया और चाहे बुरा लेकिन तू सदा मेरे साथ था तेरी अनुकंपा बड़ी और अब सदा के लिए तुझे छोड़ रहा हूं तो मेरे आखिरी धन्यवाद पास जो शिष्य थे वो समझने की बात किससे हो रही है उनमें से एक ने पूछा कि आपका मस्तिष्क कुछ डवाडोल तो नहीं हो गया मृत्यु के कारण आप किससे बात कर रहे हैं क्योंकि हम में से किसी की तरफ आपकी आंख नहीं और आपने हम में से किसी को संबोधित नहीं किया और हम में से कोई भी सदा आपके साथ भी नहीं रहा इसलिए संबोधन का कोई अर्थ भी नहीं आप किससे बात कर रहे हैं शून्य में बोल रहे हैं संत फ्रांसिस ने कहा मैं अपने शरीर से बोल रहा हूं कई बार मैंने इसकी निंदा की और इसे गालियां दी वो मेरा अज्ञान था आज मैं इसे धन्यवाद दे रहा हूं क्योंकि फिर दोबारा मुझे कोई मौका भी नहीं मिलेगा धन्यवाद देने की यह आखिरी घड़ी फिर मैं सदा के लिए छूट जाऊंगा इस शरीर ने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए यही ध्यानी का भाव होगा शत्रुता गिरेगी मित्रता घनी होगी और हर तरफ से अनुग्रह प्रतीत होने लगेगा उसका ही प्रसाद सब रूपों में इसलिए ज्ञानियों ने कहा है शरीर मंदिर अज्ञानियों ने कहा है कि शरीर दुश्मन है चाहे अज्ञानियों ने शास्त्र लिखे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्ञानियों ने सदा कहा है शरीर पर परमात्मा का प्रसाद है उसकी भेंट है अज्ञानियों ने सदा शरीर और परमात्मा को विरोध में खड़ा किया है कि जैसे जब तक तुम शरीर को नष्ट ना करोगे तब तक परमात्मा को ना पा सकोगे अगर परमात्मा को शरीर ही नष्ट करना होता तो शरीर की जरूरत ही न थी और परमात्मा भी बिना शरीर के नहीं ये सारी प्रकृति उसका शरीर है ये सारी प्रकृति उसका शरीर है इसलिए तुम्हारे शरीर में भी प्रकृति के पांच तत्व सूक्ष्म रूप में इकट्ठे तुम्हारा शरीर प्रकृति का एक मिनियचर रूप एक छोटा सा रूप है इस छोटे स्वरूप में तुम्हारी आत्मा परमात्मा का छोटा स्वरूप है उधर एक सूरज जल रहा है विराट पृथ्वी से कोई साठ हजार गुना बड़ा और उसमें विराट ज्वाला है फिर तुम्हारे घर में एक छोटा सा दिया जल रहा है बड़ा क्षुद्र सूरज से तुलना भी ना की जा सके पर उसमें भी एक ज्योति चल रही है उस ज्योति में भी वही सूरज है वही किरण है वही प्रकाश है तुम एक दिया हो दिए का आकार तुम्हारा शरीर है तुम एक ज्योति हो परमात्मा परम ज्योति है ये प्रकृति उसका दिया है इसलिए जब तुम मरोगे तुम्हारी ज्योति परम ज्योति में लीन होगी तुम्हारा दिया परम प्रकृति में लीन हो जाए ये खेल अनूठा है और ये लीला बड़ी रसपूर्ण है इसमें दुश्मनी के भाव से मत चलो इसमें जो दुश्मन बना वो भटकेगा इसमें जो मित्र बना जल्दी ही प्रकृति अपने सब रहस्य उसके सामने लौटा देती मित्र की तरह ही तुम जान पाओगे पहचान पाओगे कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारी आंखें दरवाजे की तरफ होंगी तुम दरवाजा खोलोगे भीतर महल में तुम प्रवेश कर जाओगे